इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा उतरे सेन सहितयति भीरा शिखर एक उतङ्गयति देखी परमरम्य शोभ्रविषेखी कह तरु के सलय सुमन सुहाए मन रचि निज हाथ डसाए तापर रुचिर मृदुल मृग छाला तहियासन सेन कृपाला यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे प्रभु कृतशेषपिशुच्छङ्गा वाम न दिशे चापनि निषङ्गा कमल सुधारत बाणा कहलकेश मन्त्रलगि बड़ भागे अंगद हनुमाय चरण कमलचार पत विधिनाय प्रभु पा कर कठिन सरासन प्रभु श्री रामदेव वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तर्कस रखा है वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं विभीषण जी कानों से लगा लग कर सलाह कर रहे हैं परम भग भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाढ़ लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं यही विधि कृपा रूप गुण धान रामयासीन धन्य नर यही ध्यान ये रहत सदा लयली पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबहि देखु शशि मृगपति शरी संग इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुण के धाम श्री राम जी विराजमान है वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है पूरब दिश गिरे गुहान परम प्रताप तेज बलराय से बदना गतम कुम्भविदारि शशि केशरी गगन बनचारि मिथुरे नभमुकताहलतारा निरसिङ्गार कह प्रभु शशि महु मैं चकता कहु काह निज निज मैति भाई पूर्व दिशारूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्र रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है प्रभु ने कहा भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कह सुग्रीव सुनहु रघुराय शशिमह प्रगट भूमि के धाय मारे राहु शशि कह को उरमह परी श्यामता सो को कह जब विधे रति मुख के धाम सार भाग शशि कर हरिलीना छिद्र सुप्रगट इंदुर माही तही मग देखिय नभ परिछाही सुग्रीव ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है प्रभु कह गरल बंधु सस के अति प्रिय निजर दीन राम विष कर निकर पसारे जारत बिरह वंत नर नारी कह हनुमंत सुनहो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तब मूरत विधु उर सोई श्यामताय भास पवन तनय के बचन सुने बिहसे राम सुजान दक्षिण दिश अवलोक प्रभो बोले कृपा निधान प्रभु श्री राम जी ने कहा विश्व चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए चंद्रमा आपका प्रिय दास है आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपानधान प्रभु बोले